सज्जनों जटायु को मुक्ति देकर भगवान दंडक बन की ओर चले जहाँ भक्तनी शबरी बहुत दिनों से उनकी राह देख रही थी एक दिन जिनकी अपने मन मंदिर में करती थी वर्षों से सेवा वो राम लखन को साथ लिए आते हैं शबरी ने देखा गिरते पड़ते जाय अपने को प्रभु के चरणों में गिरा दिया ये देख प्रभु ने दुखिया को आगे बढ़कर में उठा लिया शबरी ने भगवान को अपने आश्रम में ले जाकर सादर जल चरण बखारे उन सुंदर आसन बैठारे फिर कुछ जंगली बेर भगवान के सामने रख दिए उनको खाते हुए भगवान लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण कैसे सुंदर बेर लक्ष्मण कैसे सुंदर बेर लक्ष्मण हम न कब हूँ ऐसे खाए माँ तू दिए बहु देर लक्ष्मण ले हूँ तो एक खाहू तुम हूँ ये मिला ही नहीं फेर लक्ष्मण कैसे सुंदर करोगे शबरी बड़ी दीनता से बोली कि नाथ आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया क्योंकि अधम ते अधम अधम यति नारी तिन मैं मति मौद गमारी इसके उत्तर में कह रघुपति सुन भामिनी बाता माना हूँ एक भक्ति करुणाता क्योंकि भक्तहीन नर सोहत कैसे बिनु जल बारित देखिए जैसे इस प्रकार धीरज बधाते हुए भगवान ने सीता जी के विषय में पूछा तो शबरी बोली पंपा ही जाहू रघुराई और हे नाथ कहाँ हो ये मिताई गोस्वामी जी ने लिखा है कही कथा सकल दिलोक हरि मुख हृदय पद का जो धरे तज योग पावक देह धरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे